Sana. పాప కొంటున్న లాంటి బాబू चाहिए चाहिए बदतमीज बदतमीज बन के रहो किसी होश भी नहीं है बोलने का इसे राड दे धीरे जी काका ने क्या काका पंडेरी मत्ती पड़ना रे नहीं बताओ तापर बोलो रे यार बे पक्का पड़ी खावे बींदणी किवारे इंदर सिंह जी कंडक्टर साहब तीस हजार रुपया क्यों साहब की पिंडी ना बिक जाए सीधा मारवाड़ी में थोपड़ो पिटियो थोपड़ो जगत का फैट पाउडर लाली करीम चड़ी लाली हुआ है गरीब बार हितो बन पड़े अरे लिपस्टिक हटो लगाने जो काले होट लाल हो जाए लाओ ये मुकी ठोंगी लाल हो जाए अगर फैक्ट्री फैक्ट्री बन गई बाप रे बाप जगदा को काम राम नहीं करा उसको रांड करा दिया करे मना करता करता मतलब बाप पीर की कीर की गोदम करा रही देखो ये मैं की पूछ बा दो चार धक्का मंदिर बारे निकाल दी क्यों थंग बैठो जाओ जी तो भेज दीजिए की को ना पता रानी साहब ओ कोरोना साहब अरे इन लोग बैठ जाए क्या बैठ जाए

dale, dale. इस सामली बीतने के अरे क्यों थारी मौत है क्यों थारी खोटी दशा है कुण की कुण की आई है मौत मैं आज तक आपने हड़को परिको आज से मन सिरोले हूं आप रही तो हाथ उठे अपने आप रावण बन में जा कि महाराज इस दुनिया में कोई नहीं और मैं रावण ओ मन में ठाकुर तो तो तो और गज का बंदी बाजो दुनिया में और कुड़ का कोचा बा पधारे मानो कोनी में जचोड़ी काई थांग जचोड़ी काई थांके काई जचोड़ी तो को मने के काई थांग गोद में जचे हां थांके काई की जचे बोलो सामनो करो मानो करो मैंने मैंने सोने तो काई काई काई काई मैंने काई सुनो मैं मैंने काने पंचायत है कापा ने पंचायत है अगर ते पंचायत करावो चाहो आपड़ी तो चलो लेवल में तल्लो यू ने मारे काई अड़ी यू लेवल था तल्ला था कि काई अड़ी जोई मती रहता था जोई मती कोई साल बता अड़ी काई है ताने ए दी एक साई भोजाई तने सारी ता તારી માગે બેટે સત્ય થઈ જાણી સાત સાત ન્યાલુగా કાઈ નાંજોવી કુલી છે ના પર નાંજોવી લુગાવી છે તે તો વેલાઈ કોને મે તો જોગાયા કાઈ કાઈ કે અચ્છા હલકા પાળે બોલો તોય થાય કે કે કોને મને ઓળો સાણ બોલો ઓર તો કાઈ એમ ભરો તો કાઈ માં જોર કોની ચાલે છે તો ગણાય જોર ઘણો ચાલે મે જગા રહીને ઉજા જોર તો કાઈ માં લાગે की माँ और कहे चाहे मैं माता चाहूँ माता जाए जाओ जाओ मैं माता लिया बेईमाना ने शर्म नहीं माने अगर राज लेना तो मारू बात करनी रानू का सामनो करियो मारे हाथ तो जरूर सजा पाए जौनारो पण श्रृंगार जा नाव दोन कहाँ से भला क्या समझ क्या है बादशाह है लेकिन चोरू का बादशाह का कम से कम जी बादशाह ओ हमारा जीवता में छोड़ मजी लस के बागी उसको उसी समय किया जाता है अच्छे काम करवाता है मालिक कौन है नीच आदमी है बुरे काम करवाता कौन है मालिक मालिक क्यों करवाता है सुना मेरी बात आपसे आप करते रहते हैं भरते रहते तो मालिक हो फिर चोरा तो करावे ए जीरे बाड़ खेत में खाए जार का जवाब देसी रे खुदा कर ले खोले কোন के हमारे सामने बाईस लाख भोज के सामने तुम क्या कर सकते हो यार ये क्या तो बात है सुनिए मेरी बात क्यों भैया ठीक उसके लिए क्या है इसमें क्या बुराई आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन आपके लक्षणों को और आपके कर्तृत्व को बात कहता हूँ तो आप हिंदुस्तान के मालिक के बाद मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि घर आया और माँ जाया नहीं तो मेरे सामने जवाब करे तो मैं हवा निकाल दूंगी क्या सोच सका है अब सुन मेरी बात हाँ खबर पड़े बारे निकल से अच्छा ए तू घर में पड़े और सांड रांड जू करे ते काला रे अब में फेंक दूंगा नहीं नहीं आओ शाबाश बात ये इतना गुस्सा मत जाओ इस गुस्से को तो अभी ठंडा कर अच्छा। मगर इनको तो तारीख ये गुस्से को अंदर डाल लूं हाँ अंदर डाल दो बस यूं हाँ। इनको तारीख दे दो कि हमारी बाईस हाँ। आपके घर ददरे पे चढ़ाई करके आती है समझ के रहना अरे फिर कम करो सुनना बिरयान फाड़ बिरयान बोले जाओ हमारे हजरे आलम की फौज चालीस तारीख को आएगी क्या कर रहे हो क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ तो हमारे मरने की होती है तो जाके मरेंगे और क्या करेंगे नहीं मरेंगे कोई मरेंगे नहीं अच्छा तो बारह तारीख बारह तारीख के मरने की होती है तो दोनों को मरना तो अपन जिंदे बहुत ही क्या करना अरे अपन तो जिंदे रहेंगे नहीं तो एक काल पड़ को मरता ही थी कहाँ पर नहीं मरेंगे कोई नहीं मरेगा बाईस तारीख हाँ, बाईस लाख बाईस तारीख को आएगी हमारे हम तुम्हारे किले को डिसमिस कर देंगे हमारे बाल मेरी छोकरी का बाल मेरी छोकरी ये क्या ये ईतल पीतल की काशी है अच्छा। ये कौन सा ईतल पीतल सारी गोष्ठी हाँ, हाँ, हाँ। राम राम राम राम राम देखो आप हल्ला नहीं करोगे मैं तो आज मारे तो मैं आज मारे सास रे अटकुल रे और अरे तू रे रान रे